लो ए काफिरो उन्होंने तो तुम्हारी वो सारी बातें झुटला दी जो तुम कहा करते हो अब ना अजाब को टालना तुम्हारे बस में है न कोई मदद हासिल करना और तुम में से जो कोई जुल्म का मुर्तकिब है हम उसे बड़े भारी अजाब का मजा चखाएंगे